पवित्र श्रीमद् भागवत गीता पवित्र चारों वेद पवित्र कुरान शरीफ पवित्र बाइबल पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन बात आ गई कि कोई तो इतना अपने आप में वृक्ष साधु बता है कि मैं तो फूल पत्ते पान कहे पत्ते फूल पान और फल खा कर गुजारा करो से और बनमत निकलते हैं ना आगे कोई व्यक्ति दिख जा <clears throat> आदमी दिख जा तो उल्टे बाज जाएंगे और वो मेरे कैसा बोड़ा नो कहेगा ओ हो बस साधु देखा था मेरे तो भाग माड़े थे जो देख कर उल्टा बढ़ गया वो जिडा में वे संत के चाला था बंदी छोड़ महाराज क्या कहते हैं उनके बारे में गरीब केले की को पीने है फूल पान फल खाही नरका मुख ना देखे थे जो बस्ती निकट ना जाही गरीब वो जंगल के रोजे हैं जो मनुष्या बिद के जाही निस्दन फिर उजाड़ मैनू साहेब पावे नाही वो तो जंगल के रोज से जो आदमी डर के बाज कोरता डर है को आदमी डर छोड़ के वो जंगल के रोज हैं जो आदमी तो डर के और जंगल में जा बैठे अपने घर में रहो गांव में आश्रम बनाओ चल बाहर आश्रम बनाना चाहते हो अपने अनुयायियों को सत उपदेश दो और भाई इन पता चल गया यू जहर से शीशी में तो कोई मुंह नहीं लावे या तो तुम जहर मान्य निराय विकारा ने बीड़ी शराब मास तमाखू काम क्रोध लोभ अहंकार जिस दिन जहर समझ लेगा तो बरना गदरी तो शीशी दूर का मुंह करके निकल जाएगा तो जब तक हमारे अंदर इतना फैसला नहीं ले लेगा ये मन आत्मा तब तक हम भक्ति करण का काबिल भी नहीं हो लिए गलरी जिंदा मस्तक बिंदा हाँ जंगम जंगम मडी बसंता ओडे कंथा बनफल खावे नगर न जावे यो भी बैदा है बैदेसी वेद अलैदा यो भी बैदा जंगम जैनी फोकट फैनी नाम न चीन्या गुरु गुण ही ना यो भी बैदा है बैदेसी वेद अलहदा यो भी बैदा अब जंगम जैनी ये सब सबको महाराज लेते हैं कि भाई जो रास्ता था वो ठीक नहीं था रहा गलरी गलरी बिंदा मस्तक गलरी जिंदा मस्तिक बिंदा गूगल खेव जंतर सेवे यो भी बैदा हो बुद्ध अलैदा यो भी बैदा आकी दौरा बांध बटोरा धूमा धामी किसे स्वामी यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा नगर निराशा तनकू त्रासा पशु प्राणी स्वान समानी यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा यो भी वैदा अब रहे से ना नो के महाराज कति नागा साधु से नौतन तो महाराज कहते हैं बंदी छोड़ के पशु भी नंगे रहे उसमें और कुत्ते में कोई अंतर नहीं जो नंगा रहे से अगर नाम सही नहीं है तो इन निरे पाखंडा में काम नहीं चलेगा ये सतगुरु बंदी छोड़ का कहने का असली उद्देश्य और निंदा नहीं करते ये इब कोई गुआर बो कर नौका मैं तो गेहूं बो रहा सो नौका बीरा यू काम गेहूं के लक्षण नहीं है तेरे कि कर वो काम की इंतजार मत कीजिए अब कई बार देखा करते हम दफ्तर में इसे कर्म ठोक आया करते अपनी इंद्री की खाल में सांकल डाल लिया करते और दिखाते काम पूरे संत सा जब तां भी डर जाते उन तर रुपये दस रुपये दे दिया करते बाबा पांडा छोड़ तुम्हारे अरे पता चला रे तेरा बोला कते इंद्री चीरी इंद्री चीरा घाल जंजीरा घुंगरू बाजे मोड ना लाजे यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा यो भी बैदा के इसे दुष्ट आत्मा और हम उन भगवान समझा करते पाखंड रचे बैठे धूमी धामा करते सामा मांड अखाड़ा रोपे बाड़ा यो भी बैदा है बैदे से भेद अलेदा हाथों करुआ कंध है फरुआ एक फोड़ी ले लेंगे कंधे पे और एक करमंडल हाथ में और भाई हाथों करुआ कंध है फरुआ खोड़ गुणों शुद्ध कहावे यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा यो भी बैदा जट्टा जलम दम भूले अदम तन बैरागी छाका छापा दागी यो भी बैदा है वैदेशे भेद अलैदा वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले यो भी बैदा है से भेद अलैदा यो भी बैदा कहते हैं वेद पुराण ये कथा कहानी कही इनकी अनुसरण नहीं बना बिरा वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले पर अर्थ नहीं खुले अब वेदों के सरलार्थ करणिया चार पांच से उन चारों पांचों के मिला लो आप अभी आपको कल बताया था कि महर्षि दानंद जी ने कबीर शब्द को कवि सिद्ध कर दिया यजुर्वेद में कर दिया पर शाम वेद में करके दिखाओ खोल के लिख रखा कबीर नाम परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है कक्का केवल नाम है बब्बा ब्रह्म शरीर और वही रर्रा सब में रम रहा ताको नाम कबीर वो गुण रखता हुआ और हाँ हमारे मतलब एक संस्कृत कबीर कबीरपंथी साधु ने उसका जो का तो सरलास कर रखा कि इसमें कबीर नाम परमात्मा और इसमें दूसरे आपको दिखाते हैं श्याम वेद के यजुर्वेद के दूसरे भाग में इसमें साफ लिख रखा है वो कबीर सी यानी वो कबीर ही है उत्पन्न हुए उसमें साफ लिखा है कि वो कबीर ही जो है वो पूर्ण परमात्मा है और पूर्ण ब्रह्म है पर इस बात को समझेगा वही जिसका इस बात के ऊपर पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि सच्ची बात कही बोले जोगी रिधि के रोगी कान चराव भसम रमाव यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेटे यू जाना अब सतगुरु महाराज कहते हैं कि ये भी वैदा है भूले जोगी रिधि के रोगी कान चरावे भसम रमावे यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यू जाना इस प्रकार पच्चीसवा श्लोक है उनतीसवें अध्याय का यजुर्वेद के उनतीसवें अध्याय का पच्चीसवा श्लोक आपको दिखाऊं उसमें साफ लिख रखा कबीर असी यानी वो कबीर ही है जो कुछ है वो कबीर ही खुश हो जाए सतस्वरूपी नाम साहेब का सो है नाम हमारा जो सतपुरुष का सच्चा नाम है वो ही मेरा नाम है कबीर वेद भी इसका इस वाणी का प्रमाण देते हैं कि यजुर्वेद के उनतीसवें अध्याय के पच्चीसवें श्लोक में उसी कबीर शब्द का अर्थ स्वामी जी करते हैं कि वो अहात वर्ग बुद्धि और उसमें करते हैं वो कवि कांत पर जय कांति प्रजय तो यहां सतगुरु महाराज कहते हैं कि असली उसका अर्थ जो है ये बनता है आपको सामने दिखाएंगे अभी कि बिल्कुल उसमें साफ लिखा कि वो कबीर असी असी माने है कबीर माने वो कबीर नाम का परमात्मा सर्वशक्तिमान जिससे सब चेतन है और जो अपना सतलोकवासी है Mm-hmm. शब्द ये ऐसे है कि स्वामी जी उसका वर्णन कर रहे हैं कि हे उत्तम बुद्धि के को प्राप्त हुए मित्रों के सत्कार करने वाले जो आप इस समय सम्यक प्रकाशित सम्यक प्रकाशित अग्नि के तुल्य मननशील विद्वान हुए संग करते हो और विज्ञानवान दुष्टों को दुखदाई उत्तम चेतना वाला सब विषयों को अहात बुद्धि हो सो आप घर में विद्वानों का उत्तम गुणों को अच्छे प्रकार प्राप्त हुए अच्छा ये करते हैं ऐसे सरलार्थ और जबकि साफ ये बताता है अब यह संस्कृत आमदनी बाकी इतनी हमने थोड़ी बहुत पढ़ भी रखी है कि लास्ट में लिखा है कि ये सारा लिख कर कि कबीर असी प्रचेता अच्छा हमारे जो विद्वान हुए हैं कबीर पंथी उन्होंने उसका साफ सरलार दे रखा है कि वही परमात्मा कबीर नाम का जो है वो कबीर ही परमात्मा है और वो सर्वशक्तिमान है सारी सृष्टि का रचयिता है कबीर असी कबीर वो कबीर है अच्छा सरला संस्कृत ऐसा होता है कि उसमें खोलना एक अक्षर को लेकर के उसको सिद्ध करना हुआ है कोई किसी को प्रधान लेकर उसको खोल रहा है और हमारे उन्होंने इस कबीर शब्द को पूर्ण रूप से लेकर के खोला क्यों खोला कि श्याम वेद में इस कबीर नाम की पूरी महिमा दे रखी अर्थात जब एक वेद पूर्ण रूप से कबीर साहब को ही यानी कबीर नाम की प्रधानता नारी नारी व्याख्या करता है तो यहाँ कबीर नाम को लकोया नहीं जा सकता कबीर असी कति साफ कबीर लिख रखा है और फिर उसका कवि बना लिया महाराज भी कहते चल कवि बना लो कवि नाम से भी कबीर साहब आए थे गरीबदास जी की महाराज की वाणी में लिखा है कि रसर देव को आइया कवि में करतार वही परमात्मा सत्पुरुष बंदी छोड़ <clears throat> जो कि जैन धर्म का प्रवर्तक ऋषभ देव हुए हैं उनका एक लड़का था उसने जैन धर्म चला उस ऋषभ देव का भी बंदी छोड़ गए थे कवि नाम था तो इस प्रकार बंदी छोड़ कहते हैं कि इस यथार्थ को छुपाने से छुप नहीं सकता हो तो यहां वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले यो भी वैदा है वैदे से वेद अलैदा यो भी वैदा यो भी वैदा भूले जोगी रिद्धि के रोगी कोई सिद्धि कर रहा है कोई रिद्धि कर रहा है रिद्धि वह होती है कि जिसके कर लेने से उनके अनुयायियों को धन वृद्धि होनी शुरू हो जाए थोड़ी बहुत विशेष नहीं होती तो लोग उसका पाछा पाछा बोलेंगे फिर चाहे गधे बनो चाहे कुत्ते अगली ख्यास नहीं है भूले जोगी रिधि के रोगी कान चराव बसम रमाव यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा बैद पत तोड़े पाती आत्मघाती मूड अनाड़ी जड़ से तारी ओए होए कहते मूड अनाड़ी पत्थर को परमात्मा समझ बैठे और उसमें तारी यानी लीन हो चुके हैं ताल मंजीरा मन नहीं थीरा बहुविध नाच नाम नाच अब कई देखे भगवान कृष्ण की उपास उपमा करते करते नाचना शुरू कर देते हैं बंदी छोड़ कहते हैं कि सही नाम पूरे गुरु के लिए बिना कृष्ण जी की आपको लाभ नहीं मिलेगा बहुविध नाच नाम निबाच यो विवर ताल मंजीरा मन नहीं थीरा अब कहते कि डटे राम के उपासक कृष्ण ने भी पूजे हैं कृष्ण तो भी ना काम चाला माता के भी जा माता से भी नहीं डटे फिर तैतीस करोड़ देवता ने उन तो भी मन नहीं डटा फिर पितरा ने महाराज के कहीं तो रुको मन थीर नहीं हो सकता एक स्थान टेकता नहीं उर्द बाही ये उर्द बाही भूले साई घूमर पाना भेद न जाया यो भी बैदा है वैदे से भेद अलहदा यो भी बैदा तपा अकाशी बारा मासी मोनी पीठी पंच अंगीठी तपस्वी खड़े होकर झूले और बारह मास तपस कर तपस्या करें या दो महीने जेठ और वैशाख आदि उतरते और आधे साठ तक जो तपस्या करें ये सब महाराज के हैं पाखंडी बताए पाखंड का तात्पर्य है कि वस्तु हासिल नहीं होगी और लाभ पूरा नहीं पाओगे लोग रिझा सकते हो बेकूफ बना सकते हो लेकिन वस्तु नहीं है आपके पास सरवर माही झरने नाही बुद्धि के बोरा दे गई जोरा अखिर काल पकड़ ले जाएगा दो दिन नाच लो कूद लो और अपने आप में शद भी बन बैठो भाई कंद कपाली अंदर खाली बाहर श्रद्धा ये है गद्दा अब देखो साफ कहें से कि बाहर तो लोग दिखावा सिद्ध बने बैठे अंदर नाम नहीं है भाई सिद्ध यहां तो काम नहीं चले ये ये है श्रद्धा अंदर खाली और कहा में श्रद्धा ये है गद्दा यो भी बैदा है वैदेशी भेद अलैदा यो भी बैदा चौरासी की चाल ना चलिए ये लख चौरासी का रास्ता है चौरासी की चाल ना चलिए अर्दावा का हे कूदलिए मी ही पीस मनी को मारो हो मगज कुफर का बोझा डारो योगी बैदा है वैदेशी भेद अलैदा यो भी बैदा लंगर लोबी ऊपर सोबी अंदर कौआ बांडी भड़ुआ योबी बैदा है बैदे से भेद अलैदा अर्थात भेख अटम्बर डाग दिगंबर लाम चिदी सुरत न सीधी भी बैदा है बंदी छोड़ कहते हैं कि जो जान निशाना सुरत लानी थी वह तो लग नहीं रही और लोग दिखावा इन चोचला में आप सतकर मान लियो मैं झूठ नहीं बोलता आत्मवित्ती बताऊं मैंने एक दिन भिवाणी के अंदर एक तपस्वी को देखा जो एक प्लाट की भर रखी थी और उसके नीचे उसके ऊपर बहुत ऊंचा उसमें बरसा है जहां राधा स्वामी भवन बन गया है जनोदवाड़ों का उनसे थोड़ा सा आगे चलते ही इस हाथ में वो खाली कॉलोनी पड़ी थी एक आधे एक आध बने तो बस से देखा जाते हुए हम उधर काम चल रहा था बाहर हम ड्यूटी पर जाया करता था पल्ली साइड में दूर जाना पड़ता था तो देखा कि वहां एक तपस्वी और के महीने में और बैठा कति तरसूल गाड़े और मारे मन में आता हो हो माँ वह साथ दोगे चाला से पर दर्शन करने का हमें अवसर नहीं मिला क्यों जल्दी में जाते जल्दी में आ जाते कई महीने मतलब दो महीने देखा फिर हमारी वहां से ड्यूटी खत्म हुई और रेत तरफ आ गई आएगी फिर हमने नाम का इशारा मिल गया नाम लिया नाम लिए पाचा बाणी पढ़ी जानकारी हुई एक दिन में जहासुआ गांव है इधर कौशली के पास उधर काम शुरू हो गए थे वहां जा रहा और वहां लिख रखा बानी दास जी का आश्रम और हमने बानी दास जी के शब्द सुने बानी नाथ के जो नाथ परंपरा के गोरखनाथ जी के बाद जो उनको ज्ञान हुआ कि कबीर साहब से असली शब्द का तो भानी नाथ और गुलाब नाथ दो संत हुए हैं नाथ परंपरा के उन्होंने नाम नाम नाथ रखा मतलब उन अभ्यास जोश है कोशिश कर रही उन्होंने संत मत अनुसार पर पूर्ण सफलता नहीं हुई तो बानी दास सुनकर मेरी आत्मा एक कसक हुई कि संत को फेंटका हूं देखा तो एक वहां पर अंदर मंदिर बना हुआ जिसमें वही शंकर भगवान की मूर्ति और वहां हमारे गांव का धनाने का एक खत्ती था उसका शंकरानंद नाम दे रखा उड़ा वो मर चुका था उसने बनवाया वो बचपन से निकल गया था बेचारा मतलब वहां अच्छा साधु को आया फिर कहे हाँ, एक दिन कूट भी दिया था और फिर उड़ा छोड़कर उसने यहाँ पर सल के नाम यो छुच्छकवास में और एक मंदिर बनवा रखा उसी ने उसका नाम शंकर दास शंकरनाथ कुछ ही रहे थे तो वहां गया तो वहां से पूछा कि यहां दनाने का था बड़े अच्छे संत हुए से और वहां मूर्ति बनवा रखी कई उन्होंने माता की शंकर भगवान की और वो बाहर बैठा तप करने लाग रहा एक संत तो उन्हें पर बैठा हूं बोला जरूर था हमने सब्सक्राइब करी और बोला जा बच्चा बैठ जा वहां बैठ गए बात चल फिर थोड़ी आना चलम भर ली मैं बोला महामारा जी ये चलमता तो उक्का था क्यों तो हमने नए नए थे भाई शौक सा था लोग बताओ की माजी ऐसे ऐसे संतान कह रहा क्या काली नहीं मानत बता दू कह भाई क्यों ना कह तो क्यों ना कहे करड़ा करड़ा बोल रहा है कदे छो माजा पर मैं ला गया सुना उसका तो घीसा गलन ला गया वो उस्माना के भी पान मदमाशा हारी गमन करो वो पर नारी सत्र धर्म कटत शीशम साक्षी फाय भयदक विषम होका हरदम पीवते लाल मिलाव धूर इसमें संशय है नहीं थे जन्म पाचले सूर अर्ध कह धूमर पान ठडेसरी के दो जग धक्के खा जो धूमर पान सुल्फे पीवे बीड़ी पीवे और खड़े होकर तप करें कोई किसा भी तप कर लेने दो जग नरक में धक्के खाएंगे मनो गणिया बताई जब नहीं बोला मग चढ़ा आकर उसका क्यावन रपियर चाल पड़ा माँ कदे छोब ना आ जा वो चुप हो गया चला गया फिर वहां चला गया तीसरा दिन फिर गया मैं बोला भाई कई दिन में आया जी ईसा आना हो सा दूसरा तीसरा दिन आया जा सा दूर का काम रो तक से आऊ मोटरसाइकिल पर था मैं अगला दिन देखा तो जाकर बैठ गया बोला भाई आज फिर बताओ ये बात है मखा सो आते गया हादसा ना तो मन माने यो चमटा ठाए पाओ फिर मन ला गया उन्हें बताने फिर बताई और आई दी कबीर साहब की प्रमाण दिया गरीबदास जी का दिया और कई संतों का प्रमाण दिया अभी सब नितानंद जियों का प्रमाण दिया वो भी शराब मतलब तम्बाकू आदि को सबको मना करते और आज तक तम तो महाराज के अमल आहारी आत्मा कभू न पावे पोख कभी ना पावे पार कह कबीर विचार कह त्यागो तत्विचार विचार जो अमल करता है चाहे सुल्फे का चाहे बीड़ी का चाहे बांग का चाहे शराब का कभी पार नहीं हो सकता नरक के भाग्यों <clears throat> तब से सिद्धि विद्धि आ जाए वहां थोड़ी बहुत है और थोड़े दिन में आप लोग आने चुटकी लाग जाओ देने और फिर नरक में ने बोला वाह तुम्हारे माली थोड़ी हित है बोला क्यों करे बोला गांव में रोग सारा था इसमें जास हुआ मैं और मुन्नो बुला ले गए मैं सारे गए छिट्टा मारदा चाला ने बोला इतनी दूर ने आ गई पार्टी और किलकी ही मारी एक ने गांव ने बोला केस है मन नहीं बेरा केस है फिर मारे गुरु जाए कृपा से मैं बन गया काम है बेरा नहीं काम कुम गाते बोला मन तेने सोच ली करा बैठ गया सूत मैं गधे की जुन्नी में जाना पड़ेगा संत कहे कदे मेरी काली मान है ने बोला काली था उन्हें शुरू शुरू में ताई परीबता जी साहब है ने बोला फिर मैं चला गया उसको उस दिन भी रुपये इक्यावन चढ़ा दिए और एक किलो दूध बंधवा दिया गांव से एक वहां सेवक बैठे थे मैं अब एक किलो दूध इसका रोज पहुंचा दिया तो और मेर सी करी उसने <clears throat> फिर मैं हफ्ते सारा किसी कारण नहीं जा सकता तो वो मैंने यहां ब्याणी स्टैंड रोड तक पर फेंटा अब ना कोई पाठ करवाना था और बर्तन खरीदू था <clears throat> और सामान सा मन देखा वो उठा उसका रेल स्टेशन का नहीं जा मन पहचान हाँ, मन पहचान लिया वहां हमारा दी तो दिखा है वहां सच्चा है और सत्साहेब आइए मैं तो फिर न बोला चाला पाट दिया तेने दर्शन नहीं दिए मत किता जो गम ना छोड़ जा क्यों करे अकना तो मेरा पत्ता पौधा है और बीड़ी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ या नहीं छूटती मेरा ससुरा की यानी सुल्फा भी नहीं छूटता और फिर वहां भानी दास जी की कबर बनी हुई वो स्थान सा बना हुआ था कच्चा उसको लीपते हैं उड़ा दो दिन रोया मैं पड़ मैंने कोई सहारा नहीं मिला कि यू के करा मैंने बारह साल हो गए बोला उड़ा ब्याणी तप किया मैंने एक बार मुखा ब्याणी तो ही था अग हम आए था बोला नो उस पलाटा की बोला नीम सी भर रखा था उड़ा बोला मैं दो साल बैठा रहा और तरा बोला यो तो आप थे उड़ा मकाम में था मकाम तेन तो सोचा कर बहुत बुरा चाले का महात्मा बैठा है ने बोला बस के में भी कह ले मारे गुरु जी तो बोला दारू भी पिया कर दे मैं दारू तो पिंडा नहीं मैं चौखा <laughs> ये बता भाई नाम के कहा बंदी छोड़ की बाणी का अब ये यथार्थ ज्ञान नहीं है तो इसने के कहू मैं उन्हें घर न ले गया मैं बोला चाल ये बंडे है मैंने दरबार साहब सजा रखा जब ईसा अंग्रेज में था को बात याद आवे थी को ना आवे थी पर उस तो चौखा था उन्हें जमाया नहीं बेरा था तब तब कर रहा था बेचारा मैं पडोर उसने सुना रोन लाग जाए ने बोला मन तो जन्म खो लिया तीन दिन रखा चौथा दिन बोला मन गुटका दे दे आरती आला और नाम दुआ दे मैं गुरु जी आऊंगे फागण के मेले पे है और आप उड़ा आइयो और नाम दुआ दूंगा अपना काम बनाओ क्यों खाऊंगा डरे डो है बोला कति डले मैं उसने बस अड्डे में बिठा दिया उस दिन पाथो मन मिला नहीं हो सकता कि तोड़दा फंसा होगा बेचारा क्यों भाग बिना सकल पदार्थ है जगमाही पर कर्महीन नरपावत नाही जो प्रमाणित बात से भाग बिना वस्तु मिलती भी नहीं और गरीबदास जी महाराज के मारे पंथ मत हुआ होगा लखबर सूरा जूझ ही और लखबर सावत दे लखबर यति जहान में जबकि तो सतगुर शरण में ले इतना पुण्य आत्मा ये हो ले गए जब इसको सतगुरु का सही मार्ग मिलेगा ना तब तो नहीं मिलता तो यहां कहा कक्कड़ भांग तमाखू पीवे बकरे काट तलाम है सन्यासी शंकर को बोले बम्ब महादे ध्याम है बम्बी छोड़ में कह अब शंकर ज्या का जो असली उपासक नाम है उपास्य नाम है उसने भी छोड़ रहे हैं जैसे हमने आप बताया था कि सो हम नाम जपन धनसा ज्ञान योग भल रंग है भाई कंठ हृदय कमल माँ देव देव मुन सती पार्वती संग है सोहम जाप जपन धनसा ज्ञान योग भल रंग है कि हम ये नाम है सत शंकर का सही और इसका नाम जपो तो जब शंकर ला मिला ना मेरे गंगा पथ पानी ला कर उड़ा पत्थर पर चढ़ान तब मुक्ति नहीं होगी बीरा अब के करेंगे आपने देखिए कावड़िए एक पाइया तो पानी लाओगे और मेरे ख्याल में एक किलो सल्फा लको लेंगे उस समय अच्छा फिर क्या कितने जीवन मारे उड़े तो लेकर उड़े तो खास तत्व हो सा उस समय जीव बहुत कड़े हो जा सकते यानी तमाशे के महीने में तो संतों ने मना कर रखा चार महीने तक ज्यादा घूमना भी नहीं चाहिए महाराज भी गरीबदास के सामन सैर ना कीजिए आना लगसी हंस सामन में तो भाई तुम घूमया भी कम करो या नुकसान में हो जाओ सर और वह ठीक सामन वाला महीने में जब निर्य जीव जंत हो जाएंगे जब चलेंगे बम बम बम बम ये बम के चीज हो सो ने नहीं बेरा और उस बम तक में लाभ भी हो सके नहीं मुंह जाए और ठाडो बोलेगा उसकी ज्यादा वैल्यू होगी अच्छा तो महाराज कहते हैं कि <clears throat> वो नाम नहीं है उपासना का अपनी मन मर्जी का धर लिया तो इब कोबरे ने कहें जा काला कोबरा काला कोबरा और नहीं आ सकता गर्व एक मंत्र बोलेगा पटते ही आज तो जो सही नाम इन अंशों का यानी परमात्माओं का है वो जपोगे तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा यहाँ बंदी छोड़ महाराज कहते हैं जोड़ा पाइया पानी लावे कावड़ का और शिव जी की लिंग पर चढ़ा दे पुत्र की मूर्ति पे और मुक्ति चावे ठीक है चल बड़ी बात मान ली थारी को थोड़ा बहुत को दोनी चौनी बनदी भी होगी इस कर्म की तो पाप कितने हो गए बीरा वो भी तब हो गए सरेगा और फिर तो राम लूट ले इन्हें चाह पेणी को रोटी खवाना इनका पल्ला नहीं छोड़ दे बड़ा बम रह जाए गोरा कुछ नहीं दाव <laughs> पाइया पानी रह से तो बंदी छोड़ने को कहते कि मारी नहीं मानते पर वहां चले जाएंगे देखा देखी गांव के गांव अरे हरियाणा दिशा बड़ी से एक बार लाइन पड़ जाओ ये नहीं बुझ जा थोड़ा केस हर के रीनो फलाना जागा मैं एक लिया तो मैं दो लाऊंगा वो बैठी लिया तो मैं खड़ी लाऊंगा यानी यह जब ला लेंगे <laughs> तो बंदी छड़ महाराज के सन्यासी शंकर को भूले बम महादेव धाम है यो भी बैदा है बैदे से बेद अलहदा यो भी बैदा कक्कड़ भांग तमाखू पीवे बकरे काट तड़ाव सन्यासी शंकर को बोले बम्ब महा दे धाव इब कोई बंडा दे के गुड़गांव वाली को तो बकरा कटवा दे चढ़ा दे तेरा छोरा ठीक हो जाएगा बंदी छोड़ करीब कबीर साहब ने कर पाखंडी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया अपने बच्चे का कत अपने बच्चे ने का मूड मुंडावे और नाई के नो कहेगी बाल तरवाओगी तो बुढ़िया देख रहे कि मेरे पोते का कैची लाग जा खासते है और फिर थोड़ी हड़वे बकरा का बच्चा लेके नो के उसका गला कटाइए अपने बच्चे अपने लला के मूड मुंडावे कह कैची ना लग जाइया और एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया दूसरे की जीवन साकरण तो तेरे बच्चे न सुखी हो जाएगा कुत्याली मौत मरेगा सारा परिवार जो ऐसे कुकर्म करके अपने घर में सुख चाहता है तो यह बता बरी गरीबदास ने के मुंडी कह दी कबीर साहब ने फिर नौ कह एक माटी का बड़ा चौतरा पूजे लोग लगैया उस माता पर कुत्ता बूता ओ क्यों ना मर गईया फंदी छोड़ने का उस तू फांसी ना तोड़ा माता ने तम इसी भीगी बंदरी थारी अब खा जाएगी <laughs> तो मतलब असली वस्तु नहीं पकड़ सकते बंडा दो एक भाई न सारे गेल हो लेंगे फिर कह जीवत बाप गेल लट्ठम लट्ठा हर मरे पाछा गंग पचैया मरे पाछा उसके बला गंगा में गेर काऊंगा जिंदा जी उसका मोगरा मोगरा <laughs> नहीं मानता कि घर लेगा तैनो का बंदी छड़ इस यथार्थ ज्ञान को भूल का भाई कार्तक मास यो भी ये दस नाम दया ना जाने गेरू कपड़ रंगाऊ हूं और पार ब्रह्म से परचे ना ही शिव करता ठहराव है देख बंदी छोड़ के कैसे कि ये दस नामी भगवान परमात्मा को पाने वाले दस नामी संत जिसमें कान प्राणी भी आ लिए राख रमणीय भी आ लिए और बीस बीस माड़ा गाल कांड ये भी सारे आ लिए कहते ये और शंकर भगवान ने शिव जी ने मालिक बताओ इन्हों का यू ऐसा जो कुछ और विष्णु वाले ने के महाराज विष्णु में जो कुछ है यूस है अब यथार्थ ज्ञान आपके सामने रखा है ये जो का तू है ये दस नाम दया नहीं जाने और गेरू के हैं लाल कपड़े रंगवावे हैं लाल कपड़े पहन के और दस सत्सा राम राम करणीय हो जा नमो नारायण कर दे ये चौड़े हो जाए ये सतगुरु महाराज कह मैं नहीं कहता कदे को सोचा मैं किसी की निंदा कर रहा हूं कबीर साहब दास जी के शास्त्र को खोल कर समझा रहा हूं भरम हो किसी कहते देख लो और किसी भी संत ने नितानंद जी भी बहुत अच्छे संत हुए माजरा के अंदर उन्होंने भी कहा है कि भीतर भेख बनावे बाहर का कोई काम नहीं देगा ऊपर ढाडी बढ़ा ले लाल लत्ते रंग ले ये काम कति नहीं आओगे जब लग भीतर शक्ति नहीं होगी आप सामने देख रहे हो कि मैं ना तो लाल कपड़े पहन रहा है ना बड़ी ढाडी और ना मूंड मुंडा रखा ना इसी सुरीली आवाज में सुन कहूँ मोहित हो जा मेरे शब्दा में और आज कम से कम भी छह सात हजार और उस इलाके में हरियाणा के अंदर है चाकुर वहां पूरे परिवार के परिवार आज पूर्ण रूप से सुखी जिस घर में दारू पिया करते बीड़ी इसे से आपने बताओ आज मेरे ख्याल वो लड़का आ रहा है छोटा सा उसकी माँ भी पीवे या छोरी बेटी मीना इसकी मौसी है पड़ासी गांव में उसकी माँ भी पीवे छोरे की अजमेर नाम से वो मारे गए ला गया पाठों पर छुट्टियों लेकिन और उसकी दादी उकटी नारी धरी और उसके पिताजी का सुल्फा पीवे दारू पीवे उसने पिक्चर में अपने बयान दे रखे हमारे पास ਨੂੰ दतूरे के बीज भी खाया करता जब नशा होना बंद हो जाता और एक दिन के सत्संग में उनका पाठ हुआ पहले छोरे नाम लिया फिर उसकी मां का समझ में आई फिर उसकी दादी उसकी माँ तो ने क्या करती कि रोटी खाए पक्ष है और इतनी बड़ी बीड़ी होनी चाहिए छोटी मतलब सबर भी नहीं आंदा बोला जब बेटा और उसकी दादी न्यारी उठती धीरे धीरे मेरी खेत में जाम जब ले जाया करती तो उसकी माँ ने छोड़ी उसकी दादी ने छोड़ी और पाठ हुआ जब उसके बाप पिताजी ने छोड़ दिया भाई इतना पुण्य परिवार एक पा, दो पाठ करवा लिया ना और पूर्ण रूप से इन्हों का वह कति स्वर्ग में आ गई तो इसे इसे सुखबंदी छोड़ कबीर साहब गरीबदास जी देश है तेनो कहे यू तो पाया का हाथ मैं नहीं लुआंदा भाई आप तम लुआओ ना किसी पे जठा के नहीं पिटक दें है अगला का सो सुख हो जब नो सोचे है ताकि इतने जोगे भी कोई ना और पाया का हाथ लगाते में मोटा नहीं होंगे है इनका भाव बना रहे हमारे हरियाणा में सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है और पल्ला कुछ नहीं किसे गए पर नाड़ किसे की नहीं मुड़ती और गधे बनकर फिर बोरे डोने होंगे उस अच्छा अपना पहले होना तो बढ़िया है अनजान व्यक्ति जो कति सत्संग में बढ़ते भी नहीं वो इस बात में बेस सकते में भी कह सकते हैं अनजान अपने माम भी पहले कहा कर दिए पाखंडी खोएंगे सब क्या है और अपने निशाना बन रहा मैं एक दिन गरीबदास जी का पाठ होने लाग रहा है एक जगह अब मन नहीं बेरा था गरीबदास कौन सा वैसे किसी सरकारी काम से गांव में गए थे और आगे से गाड़ी सी आ गई हमने खड़ा होना पड़ गया ऐसे स्थान पर झांकी में दिख है उस पाठ का भोग लगन लग रहा है आरती हो रही नो और उड़ा बीस पच्चीस आदमी खड़े दो चार लोग आई मतलब कुल मिला था बीस पच्चीस और मैं देख कर उसमें अपने मन मन मन करो मैं देखी पाखंडिया ने खो रहा है देश अपने छाणा बन रहा मैं के मेरा था मन भी पाखड़ करना पड़ेगा फिर <laughs> आखिर में मेरे जन्म मला बंदी छोड़े दो तीन साल पास हो नाम मिल गया फिर वह सुरता रत रब लाओ यो यू तो वही सोचा था भाई अपने आड़ा पर हम भूल रहे थे <clears throat> तो इस प्रकार ये दस नाम दया ना जाने गेरू कपड़ रंगावे हैं पार ब्रह्म से परचे ना ही शिव करता ठहरावे हैं बंदी छोड़ महाराज के एक ना करता दो ना करता नौ ठहरा दिए भाई एक भी भगवान ना रहा नौ उतार मिला नौ भगवान और दसवा भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई दसवा अवतार हो रहा होगा विष्णु जी का गरीबदास जी ने भी लिख रखा कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र दसवा अवतार किलियंग नाम से आओगा उसके नीकलंक नाम से नीकलंक नाम से नीकलंक नाम से आवगा और शंबल नगरी में विष्णु दत्त शर्मा के घर में जन्म लेगा ये दास जी ने आने वाले की लिख रखी है कुछ कोनो को पछले पछले कह रखे आज से ढाई सौ वर्ष पहले इसमें लिख रखा है कलयुग के व्याख्यान में के कलयुग का व्याख्यान कहूं मैं तो से हंसा और घर घर लो के बर्तन होंगे ना देखने कंसा ये ढाई सौ वर्ष पहले लिखा था आज से दोली कि घर घर कांसी नहीं रही लो के बर्तन हो रहे से तो या झूठ सच साची यथार्थ सो की सो सत्य दोमर दोमर पान दोम दोमर पान नहीं नहीं ये गलत हुआ अथ अब है वैध्य का अंग अथ वैध्य का अंग वैसे इसमें काफी और रहेगा वरण ये कोई हो सकते नहीं थोड़े में ज्यादा समझ लेना अब वो तो है सरदर्शन वैदा घमोड़ और अब है अथवैदे का ग्रंथ बैरागी सन्यासी बड़वे चूतड़ छार लगावे हैं पांचों रांड पच्चीसों लड़के धू धू धार मचावे हैं कितने करड़े करके कैसे अपना बालक समझ कर अपने बच्चे समझ कर सन्यासियों को जो अपने आप में सिद्ध बने बैठे हैं और कारण की काल पकड़ के टिटवी मुंडी रगड़ेगा उसका बचाने खातर छो सेमा का कह के चूतड़ छार लगावे यानी सारे शरीर पर राख बसड़ लेंगे और एक इसी लंगोटी पहरेंगे जिसमें नगन भी नहीं कह सकते और उन्हें डेके भी नहीं कह सकते और हम सद कहां सा बहुत अच्छे महात्मा और सारा शरीर पर राख लपेट लपेट ली नगन पशु की रहती है तो यहां कहते हैं पांच सौ रांड पचास सौ पच्चीस सौ लड़के धू धू कार मचाओ पांच रान काम क्रोध मोलो अहंकार जो के तो भरे पड़े और फिर ये प्रकृति पत्ती इसकी जो की तो सौता कोई भी स्थिर स्थिर नहीं हो रही आप सतकर बचाओ ये हमारे पंथ में भी नरे पाखंडी बढ़ रहे हैं एक छुडानी माया करता ईसा मुंडा काला मसंड एक लंगोटी वह बांधा करदा और ईसा मुंडा नु ढेड़ नुहानदा और हम शुरू सुन जान लगे मैं महात्मा दिखे सही हुए मन और तो ये सारे हुए बात बनानी दिखे क्यों तो ज्ञान नहीं था शुरू जान लगे दो एक साल पाछा पता चला कि एक मतलब गद्दी नशीन था हमारा गरीबदासी साधु वो कित आ रहा था और वो पहुंच गया उड़ा नोगा सुते का काट का थड़ी उसकी उस बाबा जी जो शब्द दिखा था कती काला मसंडे इस नलके के हैंडपम्प की हथली काट कर सूते सिर में ठोकी उड़े चित और उसकी कैद <laughs> तो बंदी छोड़ने दो है ये किसी की नहीं अपना वाला कभी जूत मारे अपना वही है जो इनके अनुयायी है ये गरीब दासी साधु ने ये कुक्रम पाथे है और साध और यही पंथी आप सतकर मान लियो मंदी छोड़कर रास्ता छोड़कर कोई साधना कर रहा है को तप कर रहा है को किसी नाम का जाप कर रहा है बंदी छोड़ अनुसार ये साधना तय नहीं भाई आगे उनकी सलाह चाहे काली मानो चाहे सच्चाई समझो तो महाराज कहें कि सन बैर ओ बैरागी बन रहा था हमारा गरीबदास जी भी बैरागी सन्यासी बड़वे चूतड़ छार लगा है वो पाचौराण यानी क्रोध माँ का अहंकार वश उसने उसका मारा कुछ बात कह दी थी उसने कोई उसको और धून धार मचा हुए हैं यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा हुए हैं ढोलक ताल झालरी पीटे फिर तानारी री गाँव यो भी बैदा है वैदे से भेद अलैदा यो भी वैदा वैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यू जाना तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ावे हैं गुजबीरज का मर्म न जाने भद्दर भेख बनावे हैं देख कितनी गहराई के तन के योगी नौकती आसन पदम लाकर दो घंटे ने नहीं और चेले ने सोचे चाड़ेगा महात्मा से और ऊपर पैर लिए लाल कपड़े माला तिलक जो कुछ वो कर सकते कहते तन के योगी मन के भोगी फिर जब जीवन जाएंगे ना नो कहेंगे कि मैं थारे हाथ के क्रिया के अलवाना बनाया <laughs> मेड़े पार एक पे बादवी आड़े पे वो महाराज का निर्वाण दिवस है गरीब गरीबदास जी होगा उस पे जलेबी नहीं बनाते फगन वाले बना ले <laughs> तो इसे मोटे मोटे खागड़ा के ना बोले रख के मैं गरीब दास का दौड़ा लकड़ गया के भी ना बना रहे मां <laughs> चौखा बाबा कदे का बख्शा करो तुम मैं फागन वाला पाइयो छक्का खुआवागे तब तो, <laughs> तो यहाँ कैसे है तन के योगी मन के भोगी गुल्लर और फिर उनका तमाशा दिखावा अपने छुडानी में दो आश्रम से एक कोठी साहब एक छतरी साहब तो वह क्या कहेंगे पांच पांच रुपये पूजा में लाए उन्हें ऊड़ा भी रोटी खाएंगे पांच रुपये लेंदे और खखाट दूसरे में ऊड़ा भी खाएंगे और पांच रुपये लेंगे चाहे तो एक फालतू खाना पड़ जियो तो बंदी महाराज के ये गुल्लर पेट बनावे है गुजबी रजका मरम ने जाना फिर बदर भेख बनावे से अरुण देखा देखे फिर उनकी टोरा फोरी अकबर चाड़ा के साधु से फिर उनके प्रवचन सुना रहे क्या बात कही तो जय बंदी छोड़ की <laughs> तो सतगुर के सामने जो ज्ञान से भाई इकतीस लोग सोच लिए सूरज के सामने जीरो का बल्लभ भी नहीं है करवा और कॉपी न लिए जो बणखंड गुफा बनावे हैं खुदा कुत्ती गर्म घट में दूती फिर गरीद्वार आवे हैं अड़त बनखंडी बनकर चाल पड़े अकबन मरा आगे भाई हम नहीं आंदे गांव में महाराज कह उड़ा थारी फूफी भूख फिर लागे जाते हैं बुआ <clears throat> फिर चलेंगे दिए माई को कहेगा चल ढेर डड़ा गया तेरा अगले दौरे रह जाएगा तड़के तेरे पूरे दो छह गाल खा के दो रोटी लेकर आओगा है <clears throat> और फिर जंगल कह माँ <clears throat> बंदी छोड़कर मैं घर में रो और भजन करो और भाई आश्रम भी इसी जगह बना दो दस आदमी और सुलझ जाते रहते उड़ा बन में बैठे घना हो जाएगा करुआ हाथ में वो लेंगे लोटा यानी करमंडल कैंसर से करवा और कोपी न लिए जो बड़खंड गुफा बनाव है खुदा कुत्ती घट में दूती फिर गृहस्थी द्वारा फिराव है यो भी बैदा है वैदेशी भेद अलैदा यो भी बैदा वैधा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यू जाना खाकी और निर्बानी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं रण सिंगे तुरही पुतकारा गागड़ भांग घुटावे हैं ये उनके लक्षण है जो अपने अपने साधु के भांग सारे सौदे पी हुए काशी गया परियागम होदित जगन्नाथ को जावे हैं लोहागर और पुष्कर पर से ही द्वारका दाग दगावे हैं यो भी वैदा है तीर तुप देख अब सुनियो जानते तीर तुपक तलवार कटारी जमधड़ जोर बधाव है हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जा तेग चलाव है अभी बताया था ना कि एक कुंभ के मेले पे इन मतलब नागा सन्यासियों में और नागाओं में झगड़ा हो गया पच्चीस हजार साधु कटका मर गए अब उनके बारे मंदी छोड़ के ऐसे कि तीर तुपक तलवार को तीर ठोका था को तलवार मारा था तीर तुपक को कटारी ले रहा था वो एक गचोदे था यानी पच्चीस हजार मरे तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे है हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जा तेग चलावे अर की पैड़ी कहा और वहां प्रेम परमात्मा के प्रति कति नहीं दूसरी लाभ आए चलो करो जी यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भैंते यूं जाना खाकी और नरबानी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं रण सिंगे ही तुतकारा गागड़ भांग घुटावे हैं यो भी बैदा जो इस तरह के दुर्शन करते हैं भांग पीना तमाखू पीना और ये गलत है काशी गया पर यागम होदित जगन्नाथ को जामे लोहा गर पुष्कर की अपर से है द्वारका दाग द्वारा दाग दगाम है यो भी पैदा है अब कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे है हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जा तेग चलाव है ये बात खासकर सुनने की से कि जैसे वो अभी आपको बताया था कि एक समय कुंभ का मेले में दो बेखा में लड़ाई होगी थी अफेरता देनोन बट गया देनोन खो कटकट मरी तो पच्चीस हजार व्यक्ति मर गए एक नागा नागा कहते हैं अपने आप को बहुत स्वच्छ और सर्वोत्तम हम आत्मा है और दूसरे वैष्णु परंपरा के उन आपस में रोड़ा हो गया और तलवार कटारी तीर मुक्का मुक्का पच्चीस हजार व्यक्ति महात्मा कट कर मर गए जिनको महात्मा तो हम नहीं कह सकते कि बेरा पट लिया बाकी लाल लते गरंगे पाछे सभी कह देंगे साधु कट कर मर गए अब भाव ये से कहने का हम ये भी नहीं कहते कि बंदी छोड़ कपड़े किसे हो चाहे धोती कुर्ता हो पेंट कमीज हो बोथा बांध रखा हो लाल पैर रहा हो दौड़े पैर रहा हो पर काम नाम सही हो विधि सही हो तो वो मुक्ति का अधिकारी है अन्यथा भाई नहीं सही तीर तप तुपक वार कटारी जमदड़ जोर बधाव है हर पैड़ी हर हेत न जाने वाजा तेग चलाव ऊतर पैड़ी ने सबसे पवित्र धाम समझे अच्छा घाट से आरती गंगा जी की रोज तारे अरुणा को क्रम पाथ दिया कट कर मर गया थोड़ी सी अनपाच है तो ये हो गया ना पांच सौ रांड पच्चीस सौ लड़के फिर धू धू धार मचा वो क्रोध काम मान बढ़ाई जो की तू आ उनमें विद्यमान थी कोई वस्तु नहीं मर रही थी महाराज कबीर साहब कहते हैं गरीबदास जी कि जैसे चंदन सर्प लिपटाई चंदन के चारों ओर सांप लपेट के अपने तन को शीतल कर लें पर जहर खत्म नहीं होता इसी प्रकार इन साधनों से इनके मनोमान रह कि तुम बहुत अच्छी साधना कर रहे हो और तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो रही है पर बंदी छोड़ महाराज कहते हैं जैसे चंदन सर्प लिपटाई शीतल तन भया विष नहीं जाई जहर खत्म नहीं हुआ बीरा अर्थात इनके अंदर जो, जो विकार से हुआ नहीं मेरे इन साधना से ना तप से तप से थिर नहीं होत है ये मन रंगा राज और साहेब की ना बंदगी भाई साजा झूठा साज खाम खाई पाखंड में पा दे लिया अब बंदी छड़ कहते हैं काटे शीस नहीं दल करुणा जग में साध कहा हैं जो नर जाके दर्शन जाई तिसको भी नरक पठाव हैं अब ऐसे साधुओं के जो अनुयायी होंगे उनके ला के बनेगी जब उनका कोई से भी ना मन डट रहा ना उनका कोई विकार डट रहा और ना साधना ठीक तो उनके उपासक की वस्तु पा लेंगे उन महात्माओं से ये सतगुरु महाराज कह रहे यो भी बैदा है वैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेटे नू जाना बोले आपने क्यों कृपेरा पटिया अकमन बंदी छोड़ मिले थे सतगुरु कबीर साहब उसने सारा वेद खोल लिया कि ये तो नाम भाई अरिया विधि और उस परमात्मा में ध्यान लगाओ लाओ ध्यान उचेरा ऊंचे स्थान पर पारख लीजय सपद सिल्ला संपट चला को साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया का मन भाव है के संपट शिला एक पत्थर की मूर्ति को परमात्मा कहें से और फिर जीवित आत्मा जीवित शरीर समेत वो चेतन शक्ति जाकर उस पर फूल चढ़ावे से हे परमात्मा मेरी रक्षा करिए और अंधा जगत पुजारी जाका ओए दुनिया का मनोभाव से इस इसने ज्यादा पसंद करें आप देख लो निन्यानवे प्रतिशत आदमी जो उपासक से और हम भी थे के एक दो दिन फिर ज्ञान हो गया था तो हम भी तड़ गए ना था तो कति जड़ा मंदिर दिखा करता दस पांच रुपये पानी नहीं था तो माथा जरूर टेक आया करते पारख लीजय सपत पति जय सालग सलाह स्पारख लीजय सपद पतीजय सालग सला पुजावे हैं तुलसी तोड़ चढ़ा मरोड़ मूरख पे फूल चढ़ाव जड़ कह जो कति पत्थर हो सह पत्थर नहीं समझ लो जिसमें कोई जीव ना हो निर्जीव चीज को जड़ कह जैसे ये भी जड़ है ये भी जड़ है पत्थर भी जड़ से द्वार भी जड़ से जड़ पर फूल चढ़ावे हैं अब जैसे कहना गोवर्धन की परिक्रमा दे कांश बंदी छोड़ महाराज कहें या अपने मन में कसक बनी है वस्तु कुछ नहीं हासिल होगी क्यों मैं घट सके बढ़े नहीं कि जैसे कुत्ता सैर सरा का परिक्रमा दे आवे है ऋतुवंती सुन ही कह पीछे गंडिक गैला जावे है गंडिक कहे कुत्ता अरे सुन ही कहे कुतिया यानी वो कुत्ता जिस प्रकार कुतिया के गेला धक्के खाता फिरा करे वस्तु कुछ नहीं असल और आखिर में पड़ुआ के सारे खालन कुतड़ा पे और घर आ जाता है तो इस प्रकार सतगुरु ने कहां तक समझाने की कोशिश करी की तभी बहुत में बढ़ जाए इसका उस हांडे जाएंगे लोग मतलब लंबा लोट लोट का बोल रहा खीसे परिक्रमा और मैं इतनी बार घूमूंगी बंदी छोड़ के ऐसे उस परमात्मा नहीं पावे वहां तो एक कला दिखाई थी कृष्ण भगवान ने इवड़ो भगवान बैठे आखिर तो सारे नहीं है वो उसको पाने की और विधि से जैसे कुत्ता सरा का परकर्मा दे आवे है ऋतुवंती सुन ही के पीछे गंडिक गैले जाव है यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा यो भी वैदा वैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना कक्कड़ भांग तमाखू पीवे फिर बकरे काट तलाव है सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे धाम है यो भी बैदा है वैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना दो मरपान अकाशा मोनी सुचित आसन लाव है या तप से ती राजा हुई फिर धुंधदार बह जाव से के जो आपने देखा होगा ना कति साधना करके सो और तप करते हैं जो कि इस तप सेती राजा हुई फिर धुंध धार बह जावे फिर लक चौरासी में चले जाते अब भाई ना तापान ज्ञान और कहे सदाम काली मान जा देख हमारे इष्ट ने बिसरावे हमारे संत ने बिसरावे हमने संत बिसरा के के जोड़ी बरवाणी से भाई सतगुरु का यथार्थ ज्ञान आपको बता रहे हैं और ना मानो थारी मर्जी सन्यासी उदासी बाला रोखड़िया कहलावे हैं आत्म तत्का मर्म न जाने सुनम पवन चढ़ाऊस नो कह हम तो सांस रोक कपाड़ी खेच ले से फिर के हो जाएगा कपाड़ी खेचे पाछे महाराज के इसे साधु हो गए जो तीन तीन युग में रह जाए फिर भी वो शरीर जो समाप्त होगा कुत्ते की जुनी जाएंगे उतने दिन राज भोग लेंगे फिर गदा एक ने ग्यारह अरब वर्ष तप किया प्रियवत राजा था प्रियव्रत ने ग्यारह अरब वर्ष तप किया उतने वर्ष राज किया राज करके जब उसकी टीटीवी पकड़ कर ले गए तो धर्मराज गोरा जा खड़ा करा धर्मराज बोला रे तप ग्यारह अरब वर्ष तप किया इतने वर्ष राज किया इसका काला मुंह करो हे महाराज मेरा काला मुंह क्यों कीजिए कि भगवान के नाम खातिर भेजा था कुबद को मां के लाया जितना तप किया उतना राज कराया अब इसका काला मुंह करो अच्छा ने बोला मैंने एक सांस दे दो मांगा ने बोला खबरदार जो सांस लिया था ग्यारह अरब वर्ष मजा तने कला तोड़ा को नहीं ईब तो रेल बना हो जाएगा ईब तेरी दिखी ना बकल उतरेगा ईब तने सांस दे दे यानी सांस का सुमन बहुत गजब सकमाई देता है इसमें बहुत वर्णन दे रखा बंदी छोड़ने के तीनों लोग पाशंग कर दे और चौदह भवन चढ़ा दे तो भी उस सांस के सुमन का पाशंग नहीं है बताओ कितनी कीमत है उसकी तो यह महाराज कहते हैं सन्यासी उदासी बाल्या रूखड़िया कहलाम है आत्म तत्का मरम न जाने फिर सुनम पवन चढ़ावे उसमें पवन चढ़ा के कपाली में फिर तप करें दास घने बरसाती बैठे रहे फिर वह अग तीसरे जन्म कुत्ते बने जरने बैठ तप पच अग्नि उर्दमुख झूल झुलावे हैं ज्ञानी गुरुआ निकट ज्ञानी पुरुषा निकट न जावे मूर्खा न रीझ जावे है वो कौन से एक तक तो आपने देखा एक भगत जी मैंने बताया था कि एक किसा साधु देखा भाई मैंने पका किसा कि मैं गोमुख पर चला गया साइकिल पर गया दर की दर मैं गोमुख गंगा जहां से निकला है बोला बस सांस टूटन न हो जा ऑक्सीजन की कमी हो जा कहीं वे और भाई हम तेन तो कति रजाई भी ले रहे अपना बिस्तर गेल बांध रहा था और भाई पाड़ा कसूता बर्फ जमे और एक साधु देखा बोला उड़द पानी पड़ा ऊपर ते झरना सा था बहुत सीढ़ा और उसमें भाई नो बैठा रहा सारी रात दिन मतलब दिन दिन में मैं बोला भाई नो बोला बोले चाड़ा था हाथ भी नहीं दिया जाता उसमें तो उसके बारे में सतगुरु महाराज के कहे झरने बैठे और तपे पच अग्नि एक पांच आग बाढ़ के धुने उसमें तपता है झरने बैठ तपे पथ अग्नि उर्दमुख झूल झुलावे हैं कोई शरण तलन करके ऊपर नपा करके शिरासन पर तप करता है कोई पींग गलवाली से और उस पर तप करे पांच सूज जाए आराम ने सोचा रहे भाई के कुआ हो चाड़ा से संत के चाड़ा से एक कृषोड़ा गांव में तप करे था और दस ओ महीने तो डेढ़ एक दया और भाई गांव की श्रद्धा बढ़ गई और चलती आने एक पंडिता के छोरे ने बड़ो ले गया है महीने के पास गोली हो लिया वजार खेत क्यार में जुलाने के अड्डे पर पकड़ा हो उसका मतलब चाचा का छोरा आ गया फिर उसका चाचा आ गया छोरे का है उसने पिछाने दे की जा तू जब वो छोरा एकदम रो पड़ा ठाडो छाती का लाख अ क्यों अकी बाबा ले जाया मैंने वो बाबा पकड़ा उड़ा दे लठम दे मुक्या दे घुसंड उड़ा गेर लिया फिर तो सारा ने कोई नो भी नहीं पूछे क्यों पीते हैं जुनसा ने कर छोरा बड़ो के ले जाता है फिर पुलिस में दिया तो बंदी छोड़ के यही से तपस्वी भाई जब तक तो करसोड़े मारे होंगे अड़ करसोड़े ये कही प्रमाणित बात से हाँ ये बैठे कृष्ण डॉक्टर तो ये बात है कि हमने इन वस्तुओं को परख्या नहीं दो सतगुरु महाराज कहें सन्यासी ओ दासी झरने बैठ तपे पथ अग्नि उर्दमुख झूल झुलावे हैं ज्ञानी पुरुषा निकट निजावे मूर्खा ने रीज रिझाव से जिनको ज्ञान हो गया वह तो उनका नजदीक नहीं जाएंगे पर पाक बोले बाड़े भोड़े भाड़े जीवाने वह राजी करे राखे से और पांच सात उधर बैठ जाएंगे गांव के बधे हुए जो सुल्फा पीनिए होंगे और सांध ने गूट मार लेंगे उससे कि चढ़े हुए राशन बेच के नौके उतरा फूफा देगा यदि इसने बेच लिया कर लो काम क्यों नशा उसका भी उसने तो गाड़ दो से जी बोलो उसने तो नशा चाहिए से तो भाव ये से कहने का वहां कर्म बना नहीं सकते बिगाड़ सकते आसन करे आसन करे कपाली ताली ऊपर चरण हलाम है अजप्पा से मरहम नाही सबदम खाली जाम है यानी सांस का सुमन अजप्पा जाप से वो तो करते नहीं सब सांस खाली जाते हैं और कबीर साहब कहते हैं कबीर कहता हूँ कई जाते हूँ कहूँ बजा कर डोले सांस जो खाली जात है ये तीन लोक का मोल नाम सुमरण में भाई पाखंड में सिर दे रखा चार संप्रदा यो भी यो भी बैदा है बैदे से भीद अलैदा यो भी बैदा बैदा क्यों जाने हम सतगुरु भेंटे यूं जाने चार संप्रदा बावन दवारे जिनो चार संप्रदा बावन दवारे बैरागी अब आवे हैं कूड़े बेख काल का बाणा संतों देख रिसावे हैं अबंदी के हैं चार संप्रदा बावन द्वारे बैरागी जो सं, बैरागी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ समझते हैं उनकी सुन ले भाई यो कूड़े बेख कूड़े कहे कति खतरनाक कड़वे बेकार कूड़े भेख यानी ये पंथ कूड़े भेख काल का बाणा क्योंकि यहीं तक की उपासना साधना भी पूरी नहीं बताते और संतों देख रिसावे हैं संतान देख काली मान ने उनकी बात भी सुनकर अजी नहीं संतान देख रिसावे हैं रिसावे हैं तो यो भी बैदा है से भेद अलैदा यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना कोथड़ियों में हाथ धसोरे माड़ा गुप्त फिरावे हैं मन मन के का फेर न जाना साहिब दर नहीं जाम है यह तो सीधी सी बाणी से यो भी वेद करकाली स्नान करे फिर बारह तलक बनावे से तीन समय नावेंगे और बारह तलक बनावेंगे जल के मच्छा दरकाली स्नान करें फिर द्वादश तलक बनावे हैं जल के मच्छा मुक्त न हो निस्दन पर भी नहावे हैं कि जल के जो मच्छे से मत्स्य वो मगरमच्छ भी से वो सारे अणरण लाग रहे सदा उसमें पर भी नाव बिरा वो भी मुक्त नहीं होते तीन बार नहाते के सारा लगा अब चार मुक्ति बताते हैं मंदी छोड़ो शाह लोक शाह नीप शाहरूप और सहायुज कहलावे हैं चार मुक्ति में मरहम नाही आगे की के पाव है यहाँ की श्रेष्ठ मुक्ति चौथी है सायुज और सायुज मुक्ति और प्रथम शाहलोक शाहनीप शाहजोज और पांचवी शाहरूप नो कहें ये जो साधना ये कर रहे हैं इनमें तथा चार मुक्ति के भी अधिकारी नहीं बनते ताकि कुछ सुख ब्रह्म तक का भी प्राप्ति ये कर सकें बताओ इसमें की गलत क्या बंदी छोड़ में भाई ये साधना गलत कर रहे हो तुम दुखी हो जाओगे और बता गरीबदास जी आगे के पाप दे थे कोई नो भी नहीं भाई अपने मांगन खानी आश्रम हो की तब आश्रम बना कर दे हो मेरे चेले गणे हो जा अच्छी पूजा चढ़ जा जाए तो कई हो नहीं ढाई हजार बीघे के मालिक थे और खुद परमात्मा सारी सृष्टि के मालिक भी थे कनफोका कनफोका गुरु कलुआ भर आम एती सौज बखाण एथी सौज बखाण मुर्शिद सोसत गुरु कहलावे है कन फूका गुरु कलुआ बहरो सो हमको नहीं भाव है जो कान में फूक मारनिया यथार्थ बात कहे नहीं वो तेनो के बहरो का रूप से वो तो हमें नहीं अच्छा लगता वो तो यानी ठीक नहीं है वो व्यक्ति जो कि गलत रास्ते बोलता है और जो ये बात हमें बतावे वो सतगो कल्याण का अधिकारी है और नाम देने का अधिकारी हो यानी नाम उसको आगे से गुरु की जिस पर रजा हो रही हो कि नाम दिया कर वो फिर नाम दे वो सतगुरु का अधिकारी है कहलाने का मौनी मूर्ति घड़ी ठठेरे कैसे आई हृदय तेरे एरन पीठ हथौड़ों घड़िया जा ऊपर सारा झड़िया यो भी बैदा है से भेद अलैदा यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे न्यू जाने पत्थर पीतल से कर नेहा भूल गए नारायण देहा इस परमात्मा का ये स्वरूप है इसमें सारी चीज खोजो और फिर तुम ऊपर न चलो भाई कहते हैं पीतल ही का थाले है पीतल का लोटा जड़ मूर्त को पूजते हैं आवेगा टोटा भाई पीतल चमचा पूजिए जो थाल परोसे जड़ मूर्त किस काम कीमत रहो भरोसे ये बंदी छोड़ गरीबदास जी की वाणी फिर यहाँ भी कहते हैं एरन पीट है थड़ो घड़िया जा ऊपर घन सारा झड़िया मौनी मूर्ति घड़ी ठठेरे कैसे आई हृदय एरन पीट है थड़ो घड़िया जा ऊपर घन सारा झड़िया यो भी वैदा है आज तो भगवान मान दिया हर कार उसने लोहार पीटे था गेर कहने छीणी मारा था उसके थोड़े मारा था मोगरे धरे था ई परमात्मा स्वरूप मान लिया बंदी छोड़ के हैं देखो आदर के लिए मूर्ति चाहे पत्थर की हो चाहे कागज की हो और वह क्या के ऊपर केवल उसी पर आश्रित मत रहो ये पूजा यह ईमान रखी है कि उसका तलक ला दे पानी चढ़ा दे और न फ्राम हो गया नहीं बीरा ये तो आदरणीय मूर्ति होती है